भगवान के अवतारों का वर्णन करने में देवता भी मोहित हो जाते हैं पुराण वेदों की श्रुतियों द्वारा समर्थित हैं इस प्रकार यह अवतार कथा संक्षेप में कही गई जो संपूर्ण लोकों के गुरु और सदा कीर्तन करने योग्य हैं उन भगवान विष्णु के अवतारों का वर्णन किया गया इसके कीर्तन से पितरों को प्रसन्नता होती है जो हाथ जोड़कर अमित पराक्रमी श्री विष्णु के अवतार की कथा सुनता है उसके पितर भी अत्यंत तृप्त होते हैं योगेश्वर भगवान श्री हरि की योग माया का वर्णन सुनकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और भगवान की कृपा से शीघ्र ही उसे रिद्धि समृद्धि तथा प्रचुर भोगों की प्राप्ति होती है मुनिवरों इस प्रकार मैंने अमित तेजस्वी श्री हरि के सर्व हारी पवित्र अवतारों का वर्णन किया यमलोक के मार्ग और चारों द्वारों का वर्णन मुनि बोले ब्राह्मण आपके मुख से निकले हुए पूर्ण धर्म में मृतों से हमें तृप्ति नहीं होती अपितु अधिकाधिक सुनने की उत्कंठा बढ़ती जाती है मुने आप परम बुद्धिमान हैं और प्राणियों की उत्पत्ति लय और कर्म गति को जानते हैं इसलिए हम आपसे और भी प्रश्न करते हैं सुनने में आता है कि यमलोक का मार्ग बड़ा दुर्गम है वह सदा दुख और क्लेश देने वाला तथा समस्त प्राणियों के लिए भयंकर है उस मार्ग की लंबाई कितनी है तथा मनुष्य उस मार्ग से यमलोक की यात्रा किस प्रकार करते हैं मुने कौन सा ऐसा उपाय है जिससे नरक के दुखों की प्राप्ति न हो व्यास जी ने कहा उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनिवरों सुनो यह संसार चक्र प्रवाह रूप से निरंतर चलता रहता है अब मैं प्राणियों की मृत्यु से लेकर आगे की जो अवस्था होती है उसका वर्णन करूंगा इसी प्रसंग में यमलोक के मार्ग का भी निर्णय किया जाएगा यमलोक और मनुष्य लोक में छियासी हजार योनियों का अंतर है उसका मार्ग तपाए हुए तांबे की भांति पूर्ण तप्त रहता है प्रत्येक जीव को यमलोक के मार्ग से जाना पड़ता है पुण्यात्मा पुरुष पुण्य लोकों में और नीच पापाचारी मानव पाप लोक में जाते हैं यमलोक में 22 नरक हैं जिनके भीतर पापी मनुष्यों को पृथक-पृथक यातनाएं दी जाती हैं उन नरकों के नाम ये हैं नरक रौरव रौद्र शूकर ताल कुंभीपाक महाघोर सालवल विमोहन कीटाद कृमिभक्ष लालाभक्ष भ्रम पीप बहाने वाली नदी रक्त बहाने वाली नदी जल बहाने वाली नदी अग्निज्वाल महारौद्र संदंस सुनभोजन घोर वैतरणी और असिन पत्र वन यमलोक के मार्ग में न तो कहीं वृक्ष की छाया है और न तालाब और पोखरे हैं न बावड़ी और पुष्करणी है न कूप हैं न पौसले हैं न धर्मशाला है न मंडप है न घर है न नदी एवं पर्वत हैं और न ठहरने योग्य कोई स्थान ही है जहां अत्यंत कष्टों में पड़ा हुआ थका मादा जीव विश्राम कर सके उस महान पथ पर सब पापियों को निश्चय ही जाना पड़ता है जीव की यहाँ जितनी आयु नियत है उसका भोग पूरा हो जाने पर इच्छा न रहते हुए भी उसे प्राणों का त्याग करना पड़ता है जल अग्नि विष क्षुधा रोग अथवा पर्वत से गिरने आदि किसी भी निमित्त को लेकर देहधारी जीव की मृत्यु होती है पांच भूतों से बने इस विशाल शरीर को छोड़कर जीव अपने कर्मानुसार यातना भोगने के योग्य दूसरा शरीर धारण करता है उसे सुख और दुख भोगने के लिए सुदृढ़ शरीर की प्राप्ति होती है पापाचारी मनुष्य उसी देह से अत्यंत कष्ट भोगता है और धर्मात्मा मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक सुख का भागी होता है शरीर में जो गर्मी या पित्त है वह तीव्र वायु से प्रेरित होकर जब अत्यंत कुपित हो जाता है उस समय बिना ईंधन के ही उद्दीप्त हुई अग्नि की भांति बढ़कर मर्म स्थानों को विदीर्ण कर देता है तत्पश्चात उदान नामक वायु ऊपर की ओर उठता है और खाए पिए हुए अन्न जल को नीचे की ओर जाने से रोक देता है उस आपत्ति की अवस्था में भी उसी को प्रसन्नता रहती है जिसने पहले जल अन्न एवं रस का दान किया है जिस पुरुष ने श्रद्धा से पवित्र किए हुए अंतःकरण के द्वारा पहले अन्न दान किया है वह उस रुग्णावस्था में अन्न के बिना भी तृप्ति लाभ करता है जिसने कभी मिथ्या भाषण नहीं किया दो प्रेमियों के पारस्परिक प्रेम में बाधा नहीं डाली तथा जो आस्तिक और श्रद्धालु हैं वह सुख पूर्वक मृत्यु को प्राप्त होता है जो देवता और ब्राह्मणों की पूजा में संलग्न रहते किसी की निंदा नहीं करते तथा सात्विक उदार और लज्जाशील होते हैं ऐसे पुरुष को मृत्यु के समय कष्ट नहीं होता जो कामना से क्रोध से अथवा द्वेष के कारण धर्म का त्याग नहीं करता शास्त्रोक्त आज्ञा का पालन करने वाला तथा सौम्य होता है उसकी मृत्यु भी सुख से होती है जिन्होंने कभी जल का दान नहीं किया उस मनुष्य को मृत्यु काल उपस्थित होने पर अधिक जलन होती है तथा अन्न दान न करने वाले को उस समय भूख का भारी कष्ट भोगना पड़ता है जो लोग जाड़े के दिनों में लकड़ी दान करते हैं वे शीत के कष्ट को जीत लेते हैं जो चंदन दान करते हैं वे ताप पर विजय पाते हैं तथा जो किसी भी जीव को उद्वेग नहीं पहुंचाते वे मृत्यु काल में प्राण घातनी क्लेश में वेदना का अनुभव नहीं करते ज्ञानदाता पुरुष मोह पर और दीप दान करने वाले अंधकार पर विजय पाते हैं जो झूठी गवाही देते झूठ बोलते अधर्म का उपदेश देते और वेदों की निंदा करते वे सब लोग मूर्छाग्रस्त होकर मृत्यु को प्राप्त होते हैं ऐसे लोगों की मृत्यु के समय यमराज के दुष्ट दूत हाथ में हथौड़ी एवं मुद्र लिए आते हैं वे बड़े भयंकर होते हैं और उनकी देह से दुर्गंध निकलती है उन यमदूतों पर दृष्टि पड़ते ही मनुष्य कांप उठता है और भ्राता माता तथा पुत्रों का नाम लेकर बारंबार चिल्लाने लगता है उस समय उसकी वाणी स्पष्ट समझ में नहीं आती एक ही शब्द एक ही आवाज सी जान पड़ती है भय के मारे रोगी की आंखें झूमने लगती हैं और उसका मुख सूख जाता है उसकी सांस ऊपर को उठने लगती है दृष्टि की शक्ति भी नष्ट हो जाती है फिर वह अत्यंत वेदना से पीड़ित होकर उस शरीर को छोड़ देता है जो वायु के सहारे चलता हुआ वैसे ही दूसरे शरीर को धारण कर लेता है जो रूप रंग और अवस्था में पहले शरीर के समान ही होता है वह शरीर माता-पिता के गर्भ से उत्पन्न नहीं कर्म जनित होता है और यातना भोगने के लिए ही मिलता है उसी से यातना भोगनी पड़ती है तदंतर यमराज के दूत शीघ्र ही उसे दारुण पासों में बांध लेते हैं मृत्यु काल आने पर जीव को बड़ी वेदना होती है जिससे वह अत्यंत व्याकुल हो जाता है उस समय सब भूतों से उसके शरीर का संबंध टूट जाता है प्राण वायु कंठ तक आ जाती है और जीव शरीर से निकलते समय जोर-जोर से रोता है माता पिता भाई मामा स्त्री पुत्र मित्र और गुरु सबसे नाता छूट जाता है सभी सगे संबंधी नेत्रों में आंसू भरे दुखी होकर उसे देखते रह जाते हैं और वह अपने शरीर को त्याग कर यमलोक के मार्ग पर वायु रूप होकर चला जाता है वह मार्ग अंधकार पूर्ण अपार अत्यंत भयंकर तथा पापियों के लिए अत्यंत दुर्गम होता है यमदूत पासों में बांध कर उसे खींचते और मुदरों से पीटते हुए उस विशाल पथ पर ले जाते हैं यमदूतों के अनेक रूप होते हैं वे देखने में बड़े डरावने और समस्त प्राणियों को भय पहुंचाने वाले होते हैं उनके मुख विकराल नसिका टेढ़ी आंखें तीन ठोड़ी कपोल और मुख फैले हुए तथा ओठ लंबे होते हैं वे अपने हाथों में विकराल एवं भयंकर आयुध लिए रहते हैं उन आयुधों से आग की लपटें निकलती रहती हैं पाश साकल और डंडे से भय पहुंचाने वाले महाबली महाभयंकर यमकिंकर यमराज की आज्ञा से प्राणियों की आयु समाप्त होने पर उन्हें लेने के लिए आते हैं जीव यातना भोगने के लिए अपने कर्म के अनुसार जो भी शरीर ग्रहण करता है उसे ही यमराज के दूत यमलोक में ले जाते हैं वे उसे काला पाश में बांधकर पैरों में बेड़ी डाल देते हैं बेड़ी की शाकल वज्र के समान कठोर होती है यम किंकर क्रोध में भरकर उस बधे हुए जीव को भली भांति पीटते हुए ले जाते हैं वह लड़खड़ाकर गिरता है रोता है और हाय बाप हाय मैया हाय पुत्र कहकर बारंबार चीखता चिल्लाता है